हम नहीं करने लगे कि भगवान कैसे भगवान है भगवान हम करते हैं ऐसी शंका आ जाए तो वो महाभोग कहलाता है तो कहते महाभोग तुम्हारे मन में तो बस हो गए भगवान ही कैसे हो सकते हैं ये तो महाभोग ऐसे ही सभी को हो गया तो महामोह हो गया विमोह या महामोह विमोह भी उसी कहते तो महामोह हो गया और खत्म हो गई ये जरूर तो हमने ने कहने से तुम्हारे मुझे हाँ, और हम उसको कहे कहे तीनों तक हम तुमको दो चार पाँच सौ रुपये बताएं और के पास जाओगे तो ब्रह्मा दूर दूर कर मान लो अगर साधु के डॉक्टर तीन महीने हमारी रोगी हमारी रोग पर जो अपना गर्भवती का खर्चा करना चाहता है इसलिए तीन महीने का खर्चा लगा दिया तो इलाज का क्या करना वो अपने चक्कर में पड़ा तो कौन उसको इलाज करा आपका मत नहीं है इसलिए नाथ ने समझा दिया देखो हम तुमको भगवान जी के पास भेजते हैं जैसा बताओ ऐसा राम ऐसा करके सोचा जरूर माया करने लगी भगवान के बाहर है भगवान के भीतर रहते हैं भगवान के भक्ति हैं इतने ज्ञानी है उनको व्यक्ति शक्तिशाली माया माया को कुछ करना और कुछ समय ऐसे माया लग गया ये से बोलते हुए कैसे भी चले गए और उनको परम सुनाई प्रकाशित कर माया का वर्णन करते हुए बहुत समझदार सुधार में बड़े ज्ञान मान समझदार और बहुत ज्ञान और सुबह मोक्ष भगवान का चालक नहीं बनता

ब्रह्मा जी ने जो वो भगवान को प्रणाम किया राम ने इसलिए भगवान ये कहा से पैसे किसी जाने हमारे पास बनाइए उनको याद किया भगवान को समझ सकता दिखावा जैसे भगवान का स्मरण किया तो भगवान के कारण से उनका जैसे स्मरण भगवान का हुआ उनका भगवान की महिमा स्मरण ये माया क्या ये तो भगवान का ईश्वर ही है उनकी लीला जो है महान उनका जो कितना परमात्मा कैसा महान शक्तिशाली दिव्य है जिसकी की माया को शक्तिशाली कर तो माया को देख करके आप समझ लो माया का कैसा होगा उसका याद किया जहाँ ब्रह्मा जी ने मायावत को तो उनको चित्त को थोड़ी शांति मिली संतावली उनको तो मन मोह करे विचार से आता फिर ब्रह्मा जी अपने मन में सोचने लगे कि क्या करना चाहिए उनके साथ में माता हर्ष कभी बोलती विद्या वो अपने मन में सोचने लगे कि देखो सारी दुनिया माया के बस में कभी विद्वान कोविद ज्यादा ज्ञानी हो चाहे विद्वान हो चाहे किसी प्रकार के विद्वान संकारी ज्ञान हो चाहे कामा दुनिया को चाहे किसी प्रकार से हो ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो है वो भी सब माया से बस में है हम माया पर अनेक प्रभाव माया प्रभाव प्रभाव अनेक इसकी कोई सीमा नहीं माया क्या कहा जा सकता है कैसी प्रबल माया है एक बिल्कुल बात के मोह में चावा और ब्रह्मा जी अपने मन को सोच रहे हैं देखो इस माया ने हमको भी तो बहुत बार मचाया वो नहीं माना जाता उनको भी लगती जैसे कोई पहले बीमार हुआ हो और उस बीमारी से बहुत व्याकुल हुआ हो तो कहे देखो जो उसकी बीमारी लग गई तो हमको भी होगी बड़े तो मुश्किल में उसको भी लगी ऐसी करके वो कहते हैं कि देखो ये हमारे हमको भी बहुत बात लग गई और मुश्किल से छूटती है और ये भी गर्भ बेचारे को लग गई उसको तो कहते अभी जैसे मैं जगह मन उठ जा रहा नहीं तो आ करे मोह अगर आ जा फिर वो सोचा कि देखो सारा संसार तो आपने हमारे बनाया भगवान की माया तो जब हमको लग सकती है तो हमने जिस जगत को बनाया है वो तो हमारे बनाया हुआ जगत है वो जगत को हमसे ज्यादा हो गया तो वो सब जगत जगत है उसको माया दे दिया तो तुम बात क्या जिस जगत का बात रहा है माँ उसी में माया करेंगे तो सारे जगत उसको माया करे उसमें कौन सी आपकी बात

ब्रह्मा जी ने उसकी घोषणा की उसके पहले है वो शिव पुराण में कथा आती है कि देखा तो उन्होंने शिव सागर में जहाँ कौन के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुए तो वहीं एक दिन क्या देखा कि एक प्रकाश नाम की जो कुंज कोई वस्तु दिखाई दी तो क्या है उसको समझने की कोशिश करने देखा कि पानी की दिक्कत कर रही है तो हमने देखा कि पानी उसको देखा पानी के नीचे कितनी कहा तक पानी के नीचे डुबकी लगाई बहुत दूर तक गए बहुत दूर तक गए पानी नीचे करते गए परेशान करके श्वास रोकते हुए कहा गए तो पता कहा गए डुबकी उड़ने लगा तो उसको कैसे भाग गए तो ऊपर आए निकल ऊपर से निकलता है तो उसका रास्ता कहीं निकलता है और वही उनको साथ में जब कितनी बार मारा है उनको ब्रह्मा जी को भेज दिए उनको समझ नहीं आता था क्या और भी कथाएं उनकी ब्रह्मा जी की माया की कथाएं हैं तो हम लोग गुजर जाती है एक बात तो ये है वो इनकी पुत्री सरस्वती जी की पुत्री एक बात की पुत्री ही मोहित हो गए उसके पीछे पड़ गए भागी भागी सरस्वती भागी भागी अब एक बताते कहते हैं पहुंची नारद जी से कहीं भाई अपने मन में समझते हैं बड़ी होती है नारायण को लग गई ये सब बात मन में विचार ये बताए ने ये सब बात है कर को जी जो है संदेह दूर करेंगे इसलिए सब तो सोचने के बाद में तब परमात्मा ने नागरिक स्पष्ट रूप से और बड़े मधुर वाणी में बसंत जी को भाव से इस इसलिए तुम्हें शंकर जी के पास जाना चाहिए वैसे ने इनको नहीं कहा वैसे कहा ऐसे पता जिससे ऐसे को थोड़ी बुद्धि आ जाए थोड़ी जैसे से बना विनता उनकी माँ का नाम था विनता विनता विनय करती हो और कटनी वही प्रचंड थी दोनों जो है पत्नियां थी कटनी बनते धीरे धीरे जो आता है तो वो कटनी और विनता है तो विनता के लिए तो ये उनका नाम हुआ पहले से हो गया पहले का नाम विकास का था शांत स्वभाव रहने वाली तो उनको याद दिला ब्रह्मा जी ने कि तुम भिन्नता के पुत्र हो तो याद रखो माता का भी याद रखो किस प्रकार से माता का जैसे स्वभाव है तुम्हारा वैसा होना चाहिए विनम्रता तुमने होनी चाहिए तो केवल मात्र से तब उनको थोड़ी चेतना आई कि हाँ बात भाई थी वैसी विनम्रता हमको नहीं है तो उसके बाद आगे देखने के लिए विनम्रता जाती है तो मैंने शंकर संजाहू और पूछे जन काहू और किसी से पूछने का जरूरत नहीं है बाकी कोई समस्या तुम्हारे संदेह को दूर नहीं कर सकता तुम शंकर जी के बाहर जाओ तो कहा कोई सब संशय हानि पर शंकर जी तुम्हारे सारे संदेह को होंगे वो भगवान की महिमा को जानते भगवान के बड़े भक्त हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा है तो वहाँ जाओगे तो इनका सब तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी तो ज्ञान समझ दीवानी ब्रह्मा ने कहा आगे किया वैसे किया नारद का निकाल जैसा भगवान को वैसा करना तो इन्होंने भी वैसा ही किया ब्रह्मा जी के यहाँ से चल और वही किया और कहाँ पहुंचे शंकर जी क्या पहुंचे तो कहते हैं परमात्म देंगे पति आयु सर्वोपास शंकर जी कथा कही पार्वती जी को तो कहते हैं उसके बाद वहाँ से गर्व वहाँ से चले ब्रह्मा जी के पास होकर हमारे पास आए परमात्म देंगे के साथ बदल जी दौड़ते हुए यहाँ पर आए वैसे तो नारद के पास भी जल्दी पहुंचे साधन हो इसमें बड़े आतुर होकर के व्याकुल होकर के जल्दी जल्दी पहुंचे और आयु कदम जल्दी जा आतुरता हुआ क्या जाकर तो अलकापुरी में सुबह रहते हैं तो अलकापुरी जा रहे हैं अपने कैलाश पर्वत से होगी तो समझिए गरुड़ जो है रास्ते में मिल गए तो इन्होंने कहा उमा पार्वती जी ने कि आपके साथ समय तो नहीं किया कि नहीं तुम नहीं गए तुम तो अपने उस समय कैलाश में थी भाई उमा कैलाश तब तुम उस समय कैलाश में थी मैं अकेले वहां जा रहा तुम्हें इस बात क्यों जा रहे थे कि थोड़े पैसे इसलिए हम वहाँ जा रहे थे और उसके बाद फिर वो रास्ते में मिल गए तो आप दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है शंकर जी के और गरुड़ की वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर इन सब बातों में एक बात ये भी है कि प्रश्न करने का एक तरीका अधिकतर क्या रहा यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सुधार होता है उनका प्रश्न करने का लेकिन इस सुधार होता है तो दूसरी गलती बनी रहती है जब तक भी सीखा जाता है की अध्यात्म चिंतन कैसे किया जाता है तब तक व्यक्ति को समाधान की संभावना नहीं है वो अपने लिए संदेश हमारी शंका समाधान नहीं हो रही है सब नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं कि उनकी शंका का समाधान करने वाला कोई नहीं शंका का समाधान तो नारद जी कर सकते थे ब्रह्मा जी कर सकते थे लेकिन समाधान जिसका जो होना था वो प्रश्न तो कहीं से करे तो प्रश्न की जैसे तो उसी में ज्ञान की सोच रखते अब आगे चलकर करके धीरे धीरे करके लोगों में धीरे धीरे सुधार होता है पसंद कैसे करना चाहिए वो उनमें आती है बच्चे नम्रता भी आती है फिर उसके बाद में फिर जैसे उन्होंने प्रश्न कर दिया रास्ते चलते हुए तो वो भी फिर रास्ते चलते हुए बातचीत होनी पड़ी फिर ऐसी जगह बैठ करके शांत होकर के प्रश्न किए जाते हैं जहाँ प्रश्न करने का वातावरण हो तो वो स्थान जब कालभूषण के पास मिला तब वहां जाकर के उन्होंने नारद जी के साथ में समस्या ये भी थी कि नारद जी भाई गरीब से ज्यादा तैर नहीं सकते तो जल्दी जल्दी में नारद जी कुछ कहते तो कहते हैं अरे भजो राम भजो राम भजो राम भजो भाई चलो आता है बस इतना कहकर तो हो सकता है लेकिन ज्यादा देर वो बैठ ऊपर से आप भगवान का दर्शन करो थोड़ा भगवान का ध्यान करो पूजा उजा किया करो महाराज शांत हो जाए उन्होंने दो चार दिन किया करने के बाद उसका निश्चित रहता हूँ कहा आपकी कोई चीज ठीक है उपाय बताया नहीं वो वहां से चल दिए फिर और किसी जगह दूसरे महात्मा के पास गए उस महात्मा के पास से जाकर के उसको प्रणाम किया और उससे पूछा कि ये भगवान बड़ा शांत रहता है बड़ा चिंतन है बड़ा जनता रहती है कैसे शांति मिले तो उन्होंने शादी कर तुम क्या करेगा ये अभी तो संसार में ले रहे लेकिन हमारे माता के पास गए थे उन्होंने कहा कि भाई भगवान की पूजा किया करो ध्यान किया करो जब किया करो इससे चित्र को शांति मिलेगी